शहरी चूहा और देहाती चूहा एक दफा की बात है कि एक छोटा चूहा था जो एक शहर में रहता था उसको उसके एक दोस्त की तस्वीर मिली जो गांव में रहता था सो उसने फैसला किया कि वो उससे मिलने जाएगा और उसे हैरान करेगा इस जगह से कितनी गंदी बदबू आ रही फार्म के गंदे जानवरों की बू आ रही है मुझे अपने दोस्त का घर जल्दी ढूंढ लेना चाहिए हाय मेरे प्यारे दोस्त आप कैसे हो मैं अच्छी हूँ मैंने सोचा तुम्हें हैरान कर दूँ क्या बात है खुश आमदीद मेरे प्यारे दोस्त मैं बहुत खुश हूं कि तुम शहर से यहां तक इतना सफर तय करके मुझसे मिलने आए कुछ देर के लिए दोस्त बातें करने लग पड़े तुमने बहुत लंबा सफर किया तुम अब बहुत थक गए होगे तुम तरोताजा क्यों नहीं हो जाते मैं तब तक आपके लिए कुछ तैयार करता हूँ देहाती चूहा फार्म की तरफ जाता है शहरी चूहा मुंह हाथ धोने लगता है ठीक है मैं जाता हूँ और ताज़ा सब्जियाँ निकाल कर लाता हूँ इस दौरान शहरी चूहा मुँह हाथ धोते हुए सारा पानी खत्म कर देता है ओ, इतना थोड़ा सा पानी मेरा शहर ज्यादा बेहतर है शहरी चूहा बहुत कुड़ते हुए बाहर आता है आओ हम बाहर बैठकर खाएंगे मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार कर लिया देहाती चूहा शकरकंदी ताजे चुकंदर और शलजम और ताजा दूध पेश करता है तुम बैठ क्यों नहीं जाते देहाती चूहा शहरी चूहे को पेश करता है क्या आप गांव में ये खाते हो फीका खाना कितना बजायका खाना है देहाती चूहा बहुत कोशिश करता है कि अपने दोस्त को मुतासिर कर सके पर कामयाब नहीं हो पाता खाने के बाद देहाती चूहा ये फैसला करता है कि वो शहरी चूहे को फार्म्स दिखाएगा आहा हवा कितनी ताजी है मैं इन फूलों की खुशबू तक सूंघ सकती हूँ वो हरा हरा क्या है वो कुछ ताजा मटर हैं। फिर वो एक खाद वाली नम जगह से गुजरते हैं यहाँ कितनी गंदी बू आ रही है मेरा शहर तो बहुत साफ है ईमानदारी से कहूँ मेरे प्यारे दोस्त मुझे आपके रहने का अंदाज पसंद नहीं इस तरह का खाना खाना कीड़े मकोड़ों से घेरा हुआ मेरे शहर आओ तुम ये सब भूल जाओगे मैं माफी चाहता हूँ खाने के लिए मगर मेरे खाने में कुछ गड़बड़ नहीं जहाँ हर चीज इतनी ताज़ा दम है मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ दिनों के लिए शहर चलो और मेरी जिंदगी देखो तुम्हें खाने को पनीर पास्ता और नट्स और क्या कुछ नहीं मिलेगा ये तो बहुत जबरदस्त बात है, है, है, है। मुझे यकीन है तुम्हें बहुत खुशी होगी शहरी चूहा अपना सामान बांधने लगा और रवाना हो गया मेरे जाने का अब वक्त हो गया शुक्रिया अच्छा वक्त गुजरा जल्द शहर में मिलेंगे चूहे आपस में गले मिलते हैं और एक दूसरे को अलविदा कहते हैं कुछ दिन बाद देहाती चूहा अपना सामान बांधने लगता है ताकि वो शहरी चूहे को मिलने जा सके क्या ऊंची इमारतें चमकती गाड़ियां और मेरे लिए मजेदार खाने मुझे तो शहर से प्यार हो गया है कितनी ऊंची आवाज आखिर वो शहरी चूहे के घर तक पहुंच जाता है खुश आमदीद खुश आमदीद मेरे प्यारे दोस्त मेरे घर में खुश आमदीद शहरी चूहा देहाती चूहे को घर के अंदर ले जाता है वो कुछ देर बात करते हैं जब नौकर टेबल तैयार कर लेते हैं शेरी चूहा सूंग कर कहता है कि आहा आ जाओ मेरे दोस्त खाना तैयार है चलो देहाती चूहा खाना खाने के लिए बहुत पुरजोश हो जाता है अपनी मदद खुद से करो दोस्त वहाँ पनीर दूध पास्ता रोटी मक्खन केक और फ्रूट्स पड़े हैं शुक्रिया मैं बहुत मुतासर हूँ तुम्हारे अंदाज जिंदगी से मेरा ख्याल है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा जो ही वो खाना शुरू करता है नौकर वापस आ जाता है उसके पास एक डंडा है उन्हें भगाने के लिए ओ तुम छोटे गंदे जानवर इधर इधर भागो यहाँ से चलो भागो छुपे शहरी चूहा बहुत शर्मिंदा होता है फिक्र मत करो जब वो चली जाएगी फिर हम खा लेंगे वो बाहर जाकर सैर करने का तय करते हैं जब तक टेबल साफ होता है चलो मैं तुम्हें ऐसी जगह बताती हूँ जहाँ हमें हर तरह का खाना मिलेगा वो वो क्या है यहाँ का मशहूर करियाना स्टोर रास्ते में उन्हें एक बिल्ली नजर आती है जो उनकी तरफ बहुत तेज रफ्तारी से लपकती है जल्दी से छुपो ओह ओह वो क्या था मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है एक बड़ी मोटी बिल्ली कुछ ही देर में चली जाएगी बस तुम खामोश रहो जब वो बिल्ली चली जाती है तो वो एक करियाना स्टोर में दाखिल होते हैं देहाती चूहा कुछ अजीबो गरीब सी चीज देखने लगता है वो क्या है एहतियात से ये एक चूहेदान है चूहादान क्या होता है मुझे नहीं पता मैं तुम्हें कैसे समझाऊंगी क्या है बस ये है जो ही तुम इस पर लगा पनीर पकड़ने की कोशिश करोगे तो कभी बाहर नहीं आ सकोगे मेरा ख्याल है मुझे दिल का दौरा पड़ने लगा है ये सब मेरे लिए बहुत ज्यादा है अच्छा बात ना बढ़ाओ बस मोहतात रहो खैर ये सब दौड़ना कूदना डरना और घबराना मेरे लिए बहुत हो चुका मैं इस सब के लिए यहाँ नहीं आया था मगर मैंने वापस जाने का फैसला किया है वहाँ बहुत अमन और सुकून है मैं इस सब के लिए माफी चाहती हूँ मैं चाहूँगा कि वापस जाऊँ और अपने बाग में से ताज़ा खुराक खाऊं। बजाय इस मसनू खुराक के जो हर वक्त खौफ में खाना पड़ती है एक सादा जिंदगी जीना बेहतर है बनस्पत जिंदगी की ताइशात के पीछे भागने से सो वो छोटा देहाती चूहा वापस अपने घर चला जाता और अपनी बाकी की जिंदगी वहीं गुजारता